फिर हमने उससे तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बागात पैदा किए जिनसे तुम्हें बहुत से मेवे हासिल होते हैं और उन्हीं में से तुम खाते हो